सुनत बहुरे सोच बस भेरवेण कबर भरत गव एक आयस कहाब हो रे न रंगन रङ्गन सुनि राम हि भयते सोचो इत पितु बच बन्धु सकोजो भरत सुभा मन माहे प्रभु चित हित चित्रे पावत ना सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगणी सेना भी है यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं समाधान तब भाय जाए रे भरत कहे महु साधु सयाने लखन रखे वो प्रभु हृदय खभारो कहत समय समय नीति विचारो बिनु पूछे कछु कहु गोसाए सेवक समयन ठिठाए तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी आपुन समझे कहूँ तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी है लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीतियुक्त विचार कहने लगे हे स्वामी आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा हे स्वामी आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं सब जानते ही हैं मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ नाथ सुहृद सुठे सरल चित शील सने हनिधान सब पर प्रीति प्रतीत जय समान हे नाथ आप परम सुहृद बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं विषये जीव पाई प्रभुताय मूढ़ मोह बस हो ही जनाए भर ने तीरथ साधु सुजाना प्रभुपद प्रेम सकल जगुजाना तेउआजु राम पद पाए चले धर्म मर जाद मिटाए कुटिल बंधु को अवसरता के जान राम बनबासय परंतु मूढ़ विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं भरत नीतिपरायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है इस बात को सारा जगत जानता है वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं कुटिल खोटे भाई भरत कुछ समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं ि कुमन्त्र मन साज समाजु आय करे राजु कोटि प्रकार कलप कोटि आये दल बटोरि दो भारे न कपट कुचारी कही सुहाती रथ बाजी गजारी भरत दोषो दे को जाए जग बोराए राजपद पाए अपने मन में बुरा विचार करके समा समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे राजपथ पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है शशि गुरु तिय गामे नभुषो चढ़े वो भूमि सुर जान लोक वेद ते विमुख भाव अधमन बेन समान चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ राजा नहुष ब्राह्मणों की पत्नी पलकी पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया